पहला प्रश्न भगवान भविष्य नानो संधत्ते नातीतम चिंत यत्सो वर्तमान निमेशम तो हसन्ने वानु वर्त भविष्य का अनुसंधान नहीं न अतीत की चिंता हंसते हुए वर्तमान में जीना लगता है योग वासिष्ठ का यह श्लोक आपकी देशना का संस्कृत अनुवाद है इसलिए हमें फिर एक बार समझाने की कृपा करें सचानंद मन या तो अतीत होता है या भविष्य वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं और मन ही संसार है इसलिए वर्तमान में संसार की भी कोई सत्ता नहीं और मन ही समय है इसलिए वर्तमान में समय की भी कोई सत्ता नहीं अतीत का वस्तुता कोई अस्तित्व तो नहीं सिर्फ स्मृतियां हैं जिससे रेत पर छूटे हुए पग चिन्ह सांप तो जा चुका धूल पर पड़ी लकीर रह गई ऐसे ही चित्त पर जो बीत गया है व्यतीत हो गया है उसकी छाप रह जाती उसी छाप में अधिकतर लोग जीते हैं जो नहीं है उसमें जिएंगे तो आनंद कैसे पाएंगे प्यास तो है वास्तविक और पानी पिएंगे स्मृतियों का बुझेगी प्यास धूप तो है वास्तविक और छाता लगाएंगे कल्पनाओं का रुकेगी धूप उससे अतीत का कोई अस्तित्व नहीं अतीत जा चुका मिट चुका मगर हम जीते हैं अतीत में और इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ अर्थहीन धोता इसलिए जीते तो हैं मगर जी नहीं पाते जीते तो हैं लेकिन घसीटते नृत्य नहीं संगीत नहीं उत्सव नहीं और अतीत रोज बड़ा होता चला जाता है चौबीस घंटे फिर बीत गए अतीत और बड़ा हो गया चौबीस घंटे और बीत गए अतीत और बड़ा हो गया जैसे जैसे अतीत बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे सिर पर बोझ बड़ा होता है इसलिए छोटे बच्चों की आंखों में जो निर्दोषता दिखाई पड़ती है जो संतत्व दिखाई पड़ता है वह फिर बूढ़ों की आंखों में खोजना मुश्किल हो जाता है हजार तरह के झूठ इकट्ठे हो जाते सारा अतीत ही झूठ है जीसस एक सुबह सुबह झील पर रुके सूरज अभी उगा नहीं बस उगने को है और एक मछुए ने जाल फेंका है जीसस ने उस मछुए के कंधे पर हाथ रखा है मछुए ने लौट के देखा सूरज की पहली फूटती हुई किरणें पूरब से जीसस के चेहरे पर पड़ी उस मछुए की आंख जीसस की आंख से मिली और बात हो गई बिना बात किए बात हो गई आंख से आंख की मुलाकात हो गई क्षण भर सन्नाटा रहा और जिसने कहा छोड़िए जाल पकड़ ली तूने मछलियां बहुत करेगा भी क्या मछलियां पकड़ पकड़ कर जीवन में कुछ और पकड़ना है या बस मछलियां ही पकड़ना है इनकी दुर्गंध से अभी उबा नहीं छोड़ जाल मेरे पीछे आ मैं तुझे परम धन खोजने का सूत्र दू ऐसा जाल फेंकना सिखाऊ कि परमात्मा ही फंसे उस जाल में उससे कम को क्या फांसना मछुआ हिम्मतवर रहा होगा पंडित होता चालबाज होता होशियार होता है ब्राह्मण होता है हजार बातें निकालता है कि अभी कैसे चलू अभी तो अड़चने हैं पहले मां से तो जाके आज्ञा ले आऊं पहले पिता से तो पूछ लू पत्नी क्या कहेगी बच्चों का क्या होगा मगर जीसस की आंखों का जादू जैसे सब भूल गया छोड़ दिया जाल उसने पानी में खींचा भी नहीं पानी के बाहर जीसस के पीछे हो दिया वे दोनों गांव के बाहर निकलते ही थे कि एक आदमी बागा आया और उस मच्छियों को कहा पागल तू कहा जा रहा है और इस पागल आदमी के साथ कहा जा रहा है तेरे पिता की मृत्यु हो गई मैं तुझे खोजने झील पर गया वहां इस घटना का पता चला कि एक पागल जो आसपास गांव के कई बार देखा गया है उसने तेरे कंधे पर हाथ रखा और तू उसके पीछे चल पड़ता चल पड़ा है वापस चल तेरे पिता का अंतिम संस्कार करना है या नहीं उस युवक ने जीसस से कहा मुझे क्षमा करें मैं जाके अंतिम संस्कार कराऊं तीन दिन बाद लौट आऊंगा जीसस से उससे कुछ बातें कही जो सोचना पहली तो बात जीसस ने यह कही कि एक पल का तो भरोसा नहीं है कल का भरोसा कहा और तू तीन दिन का वायदा करता है आ सकेगा तेरे पिता को पक्का था कि आज मर जाएंगे तुझे ही पक्का होता तो आज तू झील पर मछली पकड़ने ना गया होता तू कल भी जिंदा होगा तीन दिन बाद भी तू आ सकेगा यह भी मान ले कि तू जिंदा होगा तो तीन दिन बाद ये साहस रह जाएगा जो आज तुझ में जगा है ये जो किरण तुझ में आज फूटी और फिर तीन दिन बाद तू आ भी जाए ये भाव भी रह जाए तो मैं बचूंगा मैं भी बच जाऊं ये भाव भी रह जाए तीन दिन बाद तू आ भी जाए तो हमारा फिर मिलन होगा अनंत अनंत काल में पहली बार हम मिले दोबारा का क्या भरोसा उस युवक ने कहा बात तो आपकी ठीक है जवाब तो मेरे पास नहीं मगर मेरे पिता का अंतिम संस्कार भी तो करना है जीसस ने कहा इसकी फिक्र छोड़ क्योंकि गांव में बहुत मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना देंगे गांव में कुछ मुर्दों की कमी अब यही आदमी आया है ये खुद ही मुर्दा है यही दफना देगा मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे मुर्दों को दफना लेने दे मुर्दों को फिर जो मर ही चुका अब दफनाओ न दफनाओ ऐसा दफनाओ वैसा दफनाओ जमीन में गड़ाओ क्या आग लगाओ क्या फर्क पड़ता है पंछी तो उड़ चुका पिंजरा पड़ा रह गया तू मेरे पीछे आ ये अवसर खोने का नहीं है पीछे की तरफ लौट के मत देख क्योंकि वही आदमी की बुनियादी भूल है और हम सब पीछे लौट के देखते हम पीछे से ही जीते हम हिसाब ही लगाते रहते हैं यह हुआ वह हुआ काश ऐसा हो जाता काश वैसा हो जाता फिर इस अतीत के उपद्रव से भविष्य का उपद्रव पैदा होता है उपद्रव निसंतान नहीं होते उपद्रव संतंत्र नियमन में नहीं मानते उपद्रव भारतीय होते एक उपद्रव दस पंद्रह बच्चे पैदा करता है इससे कम नहीं मैंने सुना जनगणना करने वाले अधिकारी ने एक द्वार पर दस्तक दी और थोड़ा चौंका और थोड़ा हैरान हुआ आंख पर भरोसा भी ना आया गौर से पुनः देखा लेकिन बात सच थी भरोसा आए या ना आए जिस शिष्य ने दरवाजा खोला था बिल्कुल नग्न थी चौंक गया पूछा आप नग्न क्यों हैं उस स्त्री ने कहा चौंको मत मैं न्यूडिस्ट हूं मैं दिगंबरत में विश्वास करती हूं वह आदमी समझदार था सोचा अपने को क्या लेना देना इसकी ये जान है जिस काम के लिए आया हूं वो मैं करूं और अपने रास्ते पे लगू उससे तो कुछ जानकारियां लेनी थी जनगणना के लिए सो उसने जरूरी प्रश्न पूछकर अपनी बही में लिखे उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न था आपके कितने बच्चे सो उसने पूछा उस स्त्री ने कहा बाईस फिर वह आदमी चौंका उसने कहा बाई कि आप वाकई न्यूडिस्ट हैं या आपको कपड़े पहनने की फुर्सत नहीं मिलती ये जो उपद्रव है इनकी बड़ी संतानें होती कहावत है कि एक मुसीबत अकेली नहीं आती साथ में भीड़ भड़क का लाती मुसीबत तो यू समझो कि कुंभ का मेला है एक ख्याई और आती होंगी एक आई तो तुम यू समझो कि बस खबर आई कहते हैं एक फूल खिल जाए तो समझो कि वसंत आ गया फूलों के संबंध में सच हो या ना हो मगर एक मुसीबत आ गई तो समझ लो कि अब मुसीबतों ही मुसीबतों के जाल फैल जाने वाले सबसे बड़ी मुसीबत जो अतीत लाता है वह है भविष्य भविष्य तुम्हारे अतीत की ही छाया है वो तुम तुमने जो जिया है उसमें से कुछ काट छांट के तुम भविष्य की कल्पना करते हो जो प्रीतिकर नहीं था उसे छांटते हो जो प्रीतिकर था उसे फैलाते हो बढ़ाते हो विस्तीर्ण करते हो भविष्य है क्या भविष्य का तुम्हें पता तो नहीं जिसका पता हो वह भविष्य नहीं भविष्य तो अज्ञात है लेकिन अतीत ज्ञात है ज्ञात से हम अज्ञात के संबंध में अनुमान लगाते और ज्ञात में से ही चुनाव करते हैं सुखद को चुनते हैं दुखद को छोड़ते हैं ऐसे हम भविष्य के रंगीन सपने समझौते कांटे कांटे अलग कर देते हैं गुलाब गुलाब बचा लेते हैं हालांकि ये हमारी भ्रांति है क्योंकि कांटे और गुलाब साथ साथ होते हैं यह असंभव है कि तुम जो जो गलत था उसे छोड़ दो जो जो ठीक था उसे बचा लो गलत और ठीक संयुक्त था जुड़ा था आएगा तो साथ आएगा जाएगा तो साथ जाएगा वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तुम एक पहलू को बचाना सकोगे तो एक तो अतीत का बोझ उसकी चट्टाने हमारी छाती पर रखी और फिर भविष्य का बोझ अतीत का रोना कि ऐसा क्यों ना हुआ और फिर जल्दी ही भविष्य के लिए रोओगे क्योंकि वह भी नहीं होने वाला है न अतीत तुम्हारे मन के अनुकूल हुआ न भविष्य तुम्हारे मन के अनुकूल होगा इन दो पाटों के बीच में आदमी पिसता है और दोनों ही का कोई अस्तित्व नहीं अतीत वह जो जा चुका अब नहीं और भविष्य वह जो आया नहीं अभी नहीं दोनों के मध्य में छोटा सा बिंदु है अस्तित्व का बस बूंद की भांति है अगर होश न रहा तो चूक जाओगे यह सूत्र प्यारा है यह सन्यास की परिभाषा है भविष्यम नानुसंधत्ते भविष्य का अनुसंधान ना करो जो नहीं है उसके पीछे न दौड़ो मगर साधारण आदमियों की तो बात छोड़ दो जिनको तुम असाधारण कहते हो जिनको तुम पूजते हो वे भी जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते राम भी स्वर्ण मृगों के पीछे दौड़ते औरों की तो बात छोड़ दो हाथ की सीता को गमा बैठते इसमें कसूर रावण का कम है रावण को नाहक दोष दिए जाते हो अगर कहानी को गौर से देखो तो रावण का कसूर ना के बराबर अगर कसूर है किसी का तो राम का स्वर्ण मृत के पीछे जा रहे हैं बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी पता है कि मृग स्वर्ण के नहीं होते साधारण से साधारण आदमी कहता है कि सारा जग मृग मरीची का है देखते हो मचा साधारण आदमी भी कहता है जग मृग मरीची का है और राम सोने के मृग के पीछे चल पड़े और क्या मृग मरीची का होगी इससे बड़ा और क्या ब्रह्मजाल होगा सीता को गमा बैठी जब भी मैं राम लक्ष्मण और सीता की तस्वीर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये भविष्य वर्तमान और अतीत की तस्वीर है राम है आगे लक्ष्मण है पीछे मध्य में सीता है राम है अतीत जो बीत गया जो जा चुका उसके पूजक इसलिए तो दशरथ की मान के चल पड़े न सोच किया न विचार किया न पूछा न प्रश्न उठाया दशरथ की बात मानने योग्य थी ही नहीं दशरथ की बात विद्रोह के योग्य थी आकाश राम ने विद्रोह किया होता तो भारत की कथा और होती तो भारत के जीवन का अर्थ और होता इतिहास और होता काश राम ने विद्रोह किया होता तो भारत इस तरह गुलामी में ना जीता इस तरह की पीड़ा में ना जीता लेकिन राम ने एक ऐसी बात को स्वीकृति दे दी जो कि बुनियादी रूप से गलत थी जिसमें कहीं भी कोई न्याय नहीं था चौदह साल का वनवास अकारण दशरथ बूढ़े थे बुढ़ापे में जो विवाह किया था जो चौथी पत्नी थी वो जवान अक्सर बूढ़े पति जवान पत्नियों के चक्कर में होते बूढ़े हैं चक्कर में होना ही पड़ता अरे जवानों को होना पड़ता तो बूढ़ों की तो बात ही क्या इस बुढ़ापे में जवान स्त्री ने जो कहा वो मान लिया यह भी अत्यंत मूर्छा की बात थी और राम है परंपरा के पूजक रघुकुल रीत सदा चली आई वो तो रघुकुल की रीति रीति और रिवाज परंपरा उसके पोषक है तो अन्याय हो तो भी चलेगा अन्याय के संबंध में भी बगावत नहीं विद्रोह नहीं और जहां अन्याय को पूजने वालों को पूजा जाता हो फिर स्वभावता उस देश का दुर्भाग्य सुनिश्चित है वो अतीत के प्रतीक है राम लक्ष्मण भविष्य के लिए आतुर है तुम्हें याद होगा स्वयंवर जब सीता का रचा गया तो लक्ष्मण उचक उचक पड़ते उनको रोकना पड़ता बार बार वो धनुष तोड़ने को एकदम आतुर हो रहा हूं इसकी फिक्र नहीं करते कि बड़े भैया मौजूद हैं इनका भी कुछ ख्याल करें ऋषि मुनि उनको रोकते हैं कि रुको ऋषि मुनियों का भी काम खूब है अरे तोड़ लेने तो बेचारे को तोड़ना है तो मगर उनको रोकते हैं कि नहीं तू मत तोड़ना वो एकदम आगे के लिए आतुर है भविष्योन्मुख है जल्दबाजी में राम है अतीत उन्मुख और सीता है दोनों के मध्य में और वह कोमल सी सीता वही है वर्तमान इस सूत्र में वर्तमान के लिए जो शब्द उपयोग हुआ है वर्तमान निमेशम निमिष मात्र निमिष शब्द को समझना उपयोगी है निमिष उस हिस्से को कहते हैं समय के जिसको तोला ना जा सके मापा ना जा सके सेकंड नहीं मिनट नहीं निमिष का अर्थ होता है जो तुलना के बाहर है इतना छोटा है जैसे कि भौतिक शास्त्री कहते हैं कि परमाणु का जब विस्फोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ लगते हैं तो उनमें कोई वजन नहीं वे तौले नहीं जा सकते जो तौला नहीं जा सकता उसको तो पदार्थ ही नहीं कहना चाहिए अंग्रेजी में शब्द है पदार्थ के लिए मैटर मैटर बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है पदार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि पदार्थ का तो अर्थ होता है जिस पद में अर्थ हो मैटर बनता है मीटर से मीटर यानी जिससे तोला जाए जो तुल जाए मैटर का अर्थ होता है जो तोला जा सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो तोला नहीं जा सकता मापा नहीं जा सकता न तराजू पर न इंच फिटों में कोई उपाय नहीं इतना छोटा है कि हमारे तोलने के साधन सब मोटे हो जाते सब स्थूल रह जाते वो हमारी तुलना के बाहर हो जाता है ऐसे ही समय के उस अंतिम हिस्से को निमित्त कहते हैं जो तुलना के बाहर है जो तौल के बाहर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती जो आया और गया जो आया नहीं कि गया नहीं दो शिकारी नए नए शिकार खेलने गए थे दोनों बड़े तत्पर थे बिल्कुल बंदूक लिए हुए और तभी एक खरगोश छलांग लगाया एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में चला गया दोनों बिल्कुल तत्पर थे लेकिन फिर भी चूक गए एक ने दूसरे से पूछा कि मामला क्या हुआ मैं भी तैयार तुम भी तैयार बंदूकों के घोड़ों पर हाथ रखे थे हुआ क्या बात क्या हुई उस दूसरे शिकारी ने कहा मैं कहूं क्या जब खरगोश निकल गया तब मुझे दिखाई पड़ा इतनी तेजी से निकला कि जब निकल रहा था तब तो मैं चूक ही गया जब निकल गया तब मुझे याद आई कि अरे मगर तब तक तो देर हो चुकी थी तब तो गोली चलाने का कोई अर्थ ना था ऐसा निमित्त है तुम्हें जब दिखाई पड़ता तब तक जा ही चुका होता है जैसी तुम्हें याद आती यह वर्तमान गया अतीत हो गया पहचाना कि अतीत हो गया सिर्फ जिया जा सकता है जाना नहीं जा सकता या कि यूं कहो कि जीना ही जानने का एकमात्र उपाय है क्योंकि तुमने अगर जानने की कोशिश की तो अतीत हो जाएगा या अगर जल्दबाजी की तो भविष्य रहेगा अगर जरा सी देर की तो अतीत हो जाएगा और देर करनी ही पड़ेगी क्योंकि मन में इतनी गति नहीं है यूं तो तुमने सुना है बहुत कि मन की बहुत गति है मगर वो जो वर्तमान का क्षण है मन से भी बहुत तीव्र गति से जाता है मन उसके सामने कुछ भी नहीं बहुत पिछड़ जाता है यह सूत्र संन्यास की आधारशिला है भविष्यम नानुसंधत्ते न तो भविष्य का अनुसंधान करना दौड़ना मत भविष्य के पीछे ये भविष्य बस स्वर्ण मृग है मगर हम सब दौड़ रहे हैं भविष्य के पीछे अलग अलग स्वर्णिम रखे कोई धन के पीछे कोई पद के पीछे कोई मोक्ष के पीछे कोई परमात्मा के पीछे मगर भागे हुए हैं लोग कोई यहां नहीं सबकी आंखें वहां टिकी और होना है यहां और आंखें हैं वहां इसलिए तुम्हारी और तुम्हारी आंख में ही तालमेल नहीं हो पाता उन दोनों में ही टूट हो जाती चलते हो कहीं देखते हो कहीं यूनान की बड़ी प्रसिद्ध कथा एक बहुत बड़ा ज्योतिषी रात तारों का अध्ययन करता हुआ एक कुएं में गिर पड़ा कुएं पर कोई घाट न था कोई पाट न था और उसकी आंखें अटकी थी दूर आकाश के तारों पर तो गिर पड़ा कुएं में जब गिर पड़ा तब होश आया चिल्लाया रात थी अंधेरी रास्ता निर्जन गांव पीछे छूट गया वो तो खेत में एक झोपड़े में रात और तो कोई ना था एक बूढ़ी औरत सोई थी वो भी रखवाली के लिए थी आवाज सुनी तो आई बामुश्किल उस वृद्धा ने रस्सी डाल के ज्योतिषी को बाहर निकाला ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया बहुत अनुग्रह किया और कहा कि सुन तुझे शायद पता भी ना हो कि मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी तारों के संबंध में और तारों के माध्यम से मनुष्य के भविष्य के संबंध में मेरी घोषणाएं कभी गलत नहीं हुई बड़े बड़े सम्राट दूर दूर से अपना भविष्य पूछने मेरे पास आते हजारों रुपए मेरी फी है लेकिन तेरा भविष्य मैं मुफ्त बता दूंगा क्योंकि तूने मेरा जीवन बचाया वह बूढ़ी स्त्री हंसने लगी उसने कहा बेटा तू फिक्र ना कर मैं तुझे कष्ट न दूंगी उसने कहा नहीं कष्ट की कोई बात नहीं तू कल आ जाना ये मेरा पता रहा यू तो तू किसी से भी पूछ लेगी एथेंस में तो कोई भी मेरे घर का पता पता देगा बच्चा बच्चा जानता है पर उस बुढ़िया ने कहा मुझे आना नहीं बेटा तो उससे क्या अपना भविष्य पूछूंगी तुझे एक कदम आगे का कुआ तो दिखाई पड़ता नहीं तू मेरे संबंध में क्या बताएगा तुझे अपना भविष्य पता नहीं कि आज कुएं में गिरना है कि आज जरा संभल के चलूं कि आज चलूं ही नहीं घर में ही रहूं तू तो मुझे क्या भविष्य बताएगा और कहानी अद्भुत है क्योंकि उस ज्योतिषी को इससे इतना चोट लगी और बात इतनी साफ हो गई कि उसने ज्योतिषी का धंधा छोड़ दिया बात तो सच थी ऐसा हुआ जयपुर में मेरे पास एक जोशी को लोग ले आए एक हजार एक रुपया उनकी फीस थी उससे कम में वो हाथ भी नहीं देखते थे मुझसे बोले कि आपको मेरी फीस पता है मैंने कहा जो भी फीस होगी उन्होंने कहा नहीं मैं आपको बता दू एक हजार एक मैंने कहा तुम फिक्र छोड़ो मैं एक हजार दो दूंगा अब तुम आ ही गए हो इतना कष्ट किए तो खाली हाथ जाना उचित नहीं तुम मजे से मेरे हाथ का अध्ययन करो कुछ बातें यहां वहां की उन्होंने कही जो कि बंधी हुई बातें जो कि जोशी सभी को कहते जो कि सभी के संबंध में सही होती थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ता है और बातें इस ढंग से कहनी होती कि उनमें हेर फेर करने की सुविधा होती गोलमोल करनी होती फिर चलने का वक्त आया तो वो राह देखें कि उनकी फीस मिले मैंने कहा आप जाइए भी अब मैं कुछ और काम करूं उन्होंने कहा मैं तो जाऊं लेकिन फीस मैंने कहा ये तो आपको पहले ही सोच लेना था अपना हाथ देख के घर से निकलना चाहिए उनका आपका मतलब मैंने कहा मेरा मतलब ये कि मैं तो फीस देने वाला नहीं हूं तुम्हें मेरा हाथ देखते से समझ लेना था कि इस आदमी से फीस नहीं मिलने वाली सच तो ये है तुमने मेरा इतना समय खराब किया इसकी फीस तुम मुझे दो और तुम निपट बुद्धू हो क्योंकि तुमको ये भी पता नहीं कि आज किसका हाथ देखने जा रहे हो उससे फीस मिलने वाली नहीं लेकिन ये जोशी एथेंस के उस जोशी जैसा बुद्धिमान नहीं था मैंने सुना वो अभी भी वही धंधा कर रहे हैं उस एथेंस के जोशी ने तो धंधा छोड़ दिया बात तो साफ हो गई कि मेरी आंखें तारों पे अटकी हैं मुझे एक कदम आगे का तो पता नहीं चलता कुएं में गिर जाता हूं क्या जानूंगा भविष्य भविष्य वह है जो जाना ही नहीं जाता और अतीत वह है जो जाना गया है तो तुम भविष्य के संबंध में जो दौड़ धूप करते हो आपाधाती करते हो वो अतीत के ही आधार पर करते हो अतीत से ही सीढ़ियां बनाते हो और इन दोनों के बीच में वो निमिष मात्र छोटा सा पल है जो भागा जा रहा है इतनी तेजी से कि अगर तुम अतीत और भविष्य में उलझे रहे तो उससे चूकते ही जाओगे चूकते ही जाओगे और वही है सत्य भविष्यम नानु संधत्ते नातीतम चिंत यत्यसो और ना अतीत की चिंता जो बीत गया बीत गया अब उधेड़ बुन क्या अब उसको अन्यथा तो किया नहीं जा सकता अब तुम लाख उपाय करो तो भी रत्ती भर उसे बदला नहीं जा सकता जिसे बदला ही नहीं जा सकता उसके संबंध में चिंता कैसी क्यों समय खराब कर रहे हो उसके संबंध में और जो आया नहीं है अभी अभी कुछ किया नहीं जा सकता और हम दोनों में उलझे इन दोनों का नाम संसार है संसार बाजार नहीं है न दुकान है न परिवार है अतीत और भविष्य इनका जो विस्तार है अतीत अर्थात स्मृति भविष्य अर्थात कल्पना है इन दोनों के बीच में तुम मरे जा रहे हो यही तुम्हारा संसार है मैं भी अपने सन्यासी को कहता हूं कि संसार छोड़ो लेकिन उस संसार को छोड़ने को नहीं कहता जिसको पुराने सन्यासी छोड़ के भागते रहे वो तो भगोड़े वो तो पलायनवादी वे तो कायर उन्होंने तो पीठ दिखा दी उन्होंने तो जीवन का अवसर खो दिया मैं कहता हूं इस संसार को छोड़ो मन संसार है अतीत भविष्य संसार है इसको छोड़ दो और वर्तमान में जियो अभी यही थोड़ा सोचो इस सौंदर्य को इस अपूर्व प्रसाद को यही और अभी होने के सब जैसे ठहर जाए अतीत नहीं भविष्य नहीं तो वो जो ठहराव है वह जो थिरता है वही ध्यान है वही संन्यास है उस स्थिरता में निर्मलता है निर्दोषता है उस स्थिरता में अहोभाव है आश्चर्य है रहस्य है उस स्थिरता में परमात्मा का दर्शन है मुक्ति है निर्वाण है और योग वशिष्ठ का यह सूत्र इसलिए और भी महत्वपूर्ण है इससे तुम्हें जाहिर होगा कि ये मेरे सन्यास की परिभाषा ही हो सकता है पुराने सन्यास की परिभाषा नहीं क्योंकि पुराना सन्यासी तो न केवल भविष्य की सोच रहा है साधारण संसारी से तुम्हारा सन्यासी तो और भी बड़े भविष्य की सोच रहा है मृत्यु के बाद क्या होगा स्वर्ग में क्या होगा कितने स्वर्ग मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा किन पुण्यों के करने से स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा परमात्मा की उपलब्धि कब होगी धन की दौड़ तो यही है उसकी तो सीमा है मौत मगर ये जो मोक्ष की और परमात्मा की और ब्रह्म अनुभव की खोज में दौड़ रहा है इसकी तो कोई सीमा ही नहीं इसका भविष्य तो बड़ा असीम ये तो और भी बड़ा संसारी मेरे हिसाब से क्योंकि इसका तो मन और भी बड़ा है और तुम्हें तो इसी जन्म की फिक्र है मगर ये तुम्हारा जो सन्यासी है इसको पिछले पिछले जन्मों की भी फिक्र पड़ी कि पिछले जन्मों में जो पाप किए थे कर्म किए थे उनका भी निपटारा करना है उनका भी हिसाब करना है तुम्हारा भविष्य भी सीमित है और अतीत भी अतीत तुम्हारा जन्म से अब तक और भविष्य तुम्हारा अब से मृत्यु तक कोई बहुत ज्यादा नहीं सत्तर साल जियोगे तो समझ लो कि आधा भविष्य आधा अतीत अगर पैंतीस साल की उम्र है अभी अगर अभी बीच में खड़े हो तो मगर तुम्हारा जो सन्यासी जिसको तुम धार्मिक कहते हो उसकी मुसीबत तो सोचो तो कह रहा चौरासी करोड़ योनियों में होके आया हूं चौरासी करोड़ योनियों में उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए होंगे उन सब का हिसाब उन सब का निपटारा करना है एक एक रत्ती रत्ती करते कर चुपतारा करना होगा इसका अतीत तो बहुत बड़ा है ये तो कभी सुलझ पाएगा इसकी संभावना ना समझो इतने उलझाव को कैसे सुलझाएगा और उलझाव आदमी का ही नहीं सब तरह के जानवरों का है ये मछली भी रहा ये केंचुआ भी रहा अब इसने क्या क्या उपद्रवना किए होंगे मैंने सुना एक कैचुए ने एक दूसरे कैचुए को देखकर कहा आहा पहली नजर का प्रेम इसको कहते मुझे तो तुझसे प्रेम हो गए और दूसरे कैचुए ने कहा मूर्ख मैं तो तेरा ही दूसरा हिस्सा हूं नाहक की बकवास न कर क्योंकि कैचुए के दो मुंह होते हैं उन्हीं का दूसरा हिस्सा था उसने तो मूर्ख व्यर्थ की बकवास न कर कैचुए भी रहे होंगे न मालूम कैसी कैसी नजरों के प्रेम हुए होंगे कभी कभी खुद से भी प्रेम हुआ होगा खुद ही से प्रेम के वार्तालाप हो गए होंगे जंगली जानवर भी रहे होंगे क्या क्या नहीं रहे होगे चौरासी करोड़ योनियों में सब तो आ गया होगा पत्थर से लेके आदमी तक की लंबी यात्रा इस सब का हिसाब किताब करना है इसलिए तुम्हारा साधु इतना उदास हो जाता है इतना चिंतित हो जाता है इतना व्यथित हो जाता है न दिन चैन न रात चैन कहा विश्राम उसे और मैं बात कर रहा हूं अनहद में विश्राम की उसको कहा विश्राम उसको तो बुन ही उधेड़ है और फिर उसका भविष्य यही खत्म नहीं होता मौत पर कोई समाप्ति नहीं होती फिर आगे चलते ही जाना है इन दोनों अनंत यात्राओं के बीच में उसका निमिष पल मात्र का जो वर्तमान है वो तो यूं दब के पिस जाएगा कि जैसे दो चट्टानों के बीच में किसी ने जूही के फूल को दबा दिया हो पता भी ना चलेगा कभी खबर भी ना मिलेगी नहीं ये सूत्र मेरे सन्यास की ही बात कर रहा है छोड़ो अतीत को छोड़ो भविष्य को और दूसरी बात भी मेरे सन्यासी पर ही लागू हो सकती है वर्तमान निमेश तो हसीन ने वानुन तथे हसो आनंदित हो प्रफुल्लित हो मग्न चित्त होकर जियो ये तो पुराने सन्यासी पर लागू नहीं हो सकता हंसते हुए वर्तमान में जीना पुराना सन्यासी तो कहेगा कि ये योग वशिष्ठ भी भ्रष्ट है मैं तो भ्रष्ट हूं ही योग वशिष्ठ को लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझते न मालूम कितने शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं जिनके अर्थ नहीं समझते अगर उनको अर्थ समझ में आ जाए तो बहुत चौंके बहुत हैरानी उन्हें हो क्योंकि उनकी जीवन धारणाओं में और उन शास्त्रों के मौलिक अर्थों में भेद होगा होना ही चाहिए क्योंकि शास्त्र तो उनसे जन्मे हैं जिन्होंने जाना है अब जिसने जाना है उसने ये बात कही होगी अज्ञानी तो नहीं कह सकता वर्तमान के क्षण में मस्त होकर जो जी रहा है अलमस्त प्रमुदित प्रफुल्लित जिसका रोआ रोआ नृत्य में लीन है और जिसके कण कण में गीत उठ रहा है वैसा व्यक्ति ही सन्यासी है लेकिन तुम्हारे तथा कथित सन्यासियों को तुम देखो उनकी शक्लों पर बारह बज रहे हैं हमेशा मातमी हंसना तो जैसे सदियों से भूल गए और हंसे भी तो कैसे हंसे चौरासी करोड़ योनियों का बोझ कितना हिसाब किताब निपटाना है कर्मों के कितने जाल इकट्ठे हो गए रोज होते जा रहे हैं और रोज भूल पर भूल होती जा रही और अभी आगे भी बहुत यात्रा पड़ी है धूल यूं ही बहुत जम गई है और भी यात्रा बहुत से और धूल जमेगी उनका संकट तो देखो उनके प्राण कैसी विडंबना में पड़े ना होंगे कहां हंसे कैसे हंसे हंस तो वही सकता है जिसका कोई अतीत नहीं कोई भविष्य नहीं वर्तमान ही जिसके लिए सब कुछ उसके लिए क्या चिंता क्या बोझ क्या पीड़ा क्या मातम उसके लिए जीवन उत्सव है निश्चित ही सहजानंद योग वशिष्ठ का यह श्लोक मैं जो कहता हूं उसकी तरफ ही इशारा है और बहुत स्पष्ट इशारा है जिसने भी कहा होगा वह जानने वाला रहा होगा वह बुद्ध पुरुष रहा होगा शास्त्रों के संबंध में एक बात ख्याल रखना क्योंकि पुराने शास्त्र एक व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए नहीं अनेक व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए उनमें चीजें जुड़ती चली गई वे सब संहिताएं नए नए लोग होते गए नई नई बातें जोड़ते चले गए तो उनमें कभी कभी अज्ञानियों ने भी जोड़ दिया है बहुत कुछ ज्ञानियों के साथ साथ अज्ञानियों के शब्द भी उनमें मिल गए इसलिए तुम्हें मेरी बातों में कई बार विरोधाभास मिलेगा योग वशिष्ठ के इस सूत्र का मैं समर्थन करूंगा और किसी दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा और तब तुम्हें अड़चन होती क्योंकि तुम्हें हैरानी ये होती कि जब योग वशिष्ठ का एक सूत्र मैंने ठीक कहा तो सब सूत्र ठीक होने चाहिए सब सूत्र ठीक नहीं हो सकते क्योंकि सब सूत्र एक ही ऊर्जा से पैदा नहीं हुए वेद के एक सूत्र का मैं समर्थन कर दूंगा दूसरे सूत्र का विरोध करूंगा और उतने ही बलपूर्वक विरोध करूंगा जितने बलपूर्वक मैंने पहले का समर्थन किया था और तुम विरोधाभास देखते हो तो तुम्हारी भूल है कहीं कोई विरोधाभास नहीं संहिताएं से ये बुद्ध के नाम से इतने शास्त्र हैं कि असंभव है कि एक व्यक्ति ने उतने शास्त्र लिखे हों या कहे हों व्यास के नाम से इतने शास्त्र हैं कि असंभव है ये कि एक व्यक्ति ने इतने शास्त्र लिखे हों या कहे हों व्यास का नाम स्वीकृत नाम हो गया साख हो गई नाम की तो जिसको भी अपनी किताब चलानी हो वो व्यास का नाम उस पर लिख देता था छपती तो थी नहीं किताबें लिखी जाती थी हाथ से कोई कॉपीराइट तो थे नहीं उन दिनों कोई सरकारी नियंत्रण था नहीं तुम भी किताब लिख के अगर उसको लिख दो व्यास रचित तो कोई कुछ कर नहीं सकता था तुमने चला दी एक व्यास की और किताब लेकिन व्यास के नाम की साख थी साख का फायदा उठा लेना अच्छा था तुम अपने नाम से लिखोगे कौन पढ़ेगा कौन सुनेगा कौन मानेगा लेकिन व्यास की है तो फिर तो माननी ही होगी गलत भी हो तो भी माननी होगी कितनी रामायण है वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक कितने लोगों ने रामायण लिखी इनमें बहुत भेद है एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग बातें मगर राम की कथा है राम की कथा की साख है तो कोई भी लिख दे राम की कथा चल पड़ेगी लोग उसे सिर पर रख लेंगे लोगों को फिक्र ही नहीं उसके भीतर क्या है इसलिए मैं जब किसी सूत्र का समर्थन करूं तो ख्याल रखना उस सूत्र का समर्थन कर रहा हूं कोई योग वशिष्ठ के पूरे जीवन दर्शन का समर्थन नहीं कर रहा हूं बहुत से सूत्र हैं जिनसे मेरा इतना ही विरोध जितना मेरा समर्थन इस सूत्र के लिए क्योंकि मेरे पास अपनी कसौटी है मुझे किसी शास्त्र से ना कुछ लेना है न देना है मेरी कसौटी पर जो ठीक उतरेगा वो ठीक जो ठीक नहीं उतरेगा वो नहीं ठीक सोने को सोना कहूंगा मिट्टी को मिट्टी कहूंगा फिर वो चाहे योग वशिष्ठ में ही रखी हुई मिट्टी क्यों ना हो और सोना अगर कचरे में भी पड़ा हो तो भी उसे सोना कहूंगा इसलिए तुम्हें मेरी बातों में बहुत बार विरोधाभास दिखाई पड़े तो जल्दी मत कर लेना सोचना कारण होगा कुछ जैसे इस सूत्र में तो मैं कोई शर्त ना लगाऊंगा बेसर्त स्वीकार करूंगा ये तो मेरी ही बात है यही तो मैं रोज कह रहा हूं तुमसे कि क्षण में जीना सीखो पल में जीना सीखो अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिले सुवास उड़े महोत्सव की और परमात्मा तुम्हें घेर कर तुम्हारे साथ मदमस्त हो उठे तो इतना ही करना जरूरी है यही ध्यान की पूरी प्रक्रिया है अतीत से अपने को छुड़ा लो और अतीत ने तुमको नहीं पकड़ा है तुमने ही अतीत को पकड़ा है इसलिए जब चाहो तब छोड़ दे सकते हो और वर्तमान मौजूद है कहीं खोजने जाना नहीं और भविष्य है ही नहीं छोड़ने में क्या अड़चन है लेकिन बड़े अजीब लोग हैं जो नहीं उसको भी छोड़ने में मुश्किल होती है मुट्ठी खाली है मगर उसको खोलने में डर लगता है कि कहीं खाली दिखाई ना पड़ जाए बांधे रहो तो कम से कम भरोसा तो बना रहता है कि कुछ होगा तभी तो बांधे हुए लोग अपनी मुट्ठी भी खोलने में डरते हैं कि कहीं खाली दिखाई ना पड़ जाए मगर तुम्हारी मुट्ठी है तुम्हें पता ही है कि खाली है खोलो या न खोलो भविष्य है नहीं छोड़ने का सवाल नहीं अतीत जा चुका है छोड़ने का सवाल नहीं छूट ही चुका है जो है उसे तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते हो मगर कैसा उपद्रव है कि नहीं के साथ उलझे हो और है से चूक रहे हो और जो है वह परमात्मा का ही दूसरा नाम है दूसरा प्रश्न भगवान सतपथ ब्राह्मण में यह सूत्र आता है सत्यम वही चक्षु सत्यम ही प्रजापति अर्थात चक्षु सत्य है और सत्य ही प्रजापति है हमें सूत्र का अभिप्रेत समझाने की कृपा करें आनंद सत्यम वही चक्षु सत्य कोई वस्तु नहीं सत्य दृष्टि है देखने का एक ढंग है एक निर्मल ढंग निर्दोष ढंग एक ऐसी आंख जिस पर कोई पर्दा ना हो एक ऐसी आंख जिस पर कोई धुआं ना हो एक ऐसी आंख जो निर्विचार हो कोई हिंदू है तो फिर उसकी आंख सत्य नहीं हो सकती कोई मुसलमान है तो उसकी आंख सत्य नहीं हो सकती कोई ईसाई है तो उसकी आंख सत्य नहीं हो सकती अगर आंख को सत्य करना हो तो ईसाई होना हिंदू होना मुसलमान होना हटा के रख देना होगा आंख निर्मल होनी चाहिए पक्षपात शून्य होनी चाहिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए लेकिन लोग अपने विश्वासों से भरे और उन्हीं विश्वासों के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं और जब तुम अपने विश्वास के माध्यम से देखने की कोशिश करते हो तभी सब असत्य हो जाता है तब तुम वही देख लेते हो जो तुम देखना चाहते हो वह नहीं जो है और देखना है उसे जो है सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत कि हम पैदा होने के साथ ही विकृत होने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर दिए जाते हमारी आंखों पर पर्दे पे पर्दे परतों पे परतें चढ़ा दी जाती अब अगर जैन कृष्ण के मंदिर में जाता है तो झुकने का सवाल ही नहीं उठता प्रश्न ही नहीं उठता कृष्ण में उसे कोई भी महिमा दिखाई नहीं पड़ती उसकी अपनी धारणाएं इतनी मजबूत है कि कृष्ण में तो उसको निपट भोगी दिखाई पड़ता है कृष्ण खड़े हैं बांसुरी बजा रहे हैं मोर मुकुट बांधे हुए हैं पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं आभूषण पहने हुए रुक्मणी की प्रतिमा भी साथ में कि राधा की ये देखकर ही जैन के मन में तत्ण सवाल उठता है ये कैसे भगवान भगवान तो वीतराग होना चाहिए वो उसकी धारणा है वीतराग उसे तो राग के बाहर पार होना चाहिए ये तो रागी का रूप हुआ ये बांसुरी ये मोर मुकुट ये सुंदर वस्त्र ये स्त्री का पास खड़े होना ये तो राग का लक्षण हाँ महावीर को देखता है तो गदगद हो जाता नग्न खड़े न कोई स्त्री पास है न वस्त्र पास है मोर मुकुट तो दूर बांसुरी तो दूर भिक्षा पात्र भी साथ में नहीं महावीर तो करपात्री थे हाथ से ही भोजन लेते थे हाथ की अंजलि बनाकर जो बन जाता हाथ में बस वही उनका भोजन था वही भोजन पात्र था भिक्षा पात्र भी नहीं ऐसे वीतरागी को नमस्कार उठता है लेकिन किसी और को हिंदू को महावीर को देख के थोड़ी हैरानी होती ये कैसे भगवान ये कैसे ईश्वर ईश्वर शब्द का अर्थ ही होता है ऐश्वरीवान ईश्वर शब्द बनता ही ऐश्वरी से सारा ऐश्वरी जिसका है वही तो ईश्वर ये नंग धड़ंग खड़े हैं ये कैसे ईश्वर इनके पास कुछ भी नहीं है और ये नंगा खड़ा होना उसे अशोभन लगता है उसे वितरकता नहीं दिखाई पड़ती उसे दिखाई पड़ता है ये क्या मामला है अरे कम से कम लोक लाच तो रखो स्त्री बच्चे भी आते हैं नंगरंग खड़े हो एक लंगोटी तो कम से कम लगा लेते लंगोटी लगा लेते तो क्या बिगड़ जाता दिगंबर जैन मुनि बैठता इस ढंग से तुमने दिगंबर जैन मुनियों की चित्र देखे चित्र भी इस ढंग के बनाए जाते महावीर तक के चित्र जैनियों के घर में ऐसे होते मैं एक जैन घर में मेहमान था बड़ा सुंदर चित्र महावीर का लगा था मैंने उनसे कहा चित्र तो सुंदर है मगर चालबाजी से भरा है उन्होंने कहा क्या चालबाजी इस चित्र को जो भी कहता है वही सुंदर कहता है आप पहले आदमी के सुंदर भी कह रहे हैं चालबाजी से भरा भी उनका चालबाजी इसलिए कि महावीर को तो सुंदर बनाया है मगर एक झाड़ की आड़ में खड़ा किया है और झाड़ की शाखा इस तरह से उनके पास से गुजारी कि उनका नग्न पन्ना दिखाई पड़े तो मैंने कहा लंगोटी लगा देती इतना बड़ा झाड़ लिए फिर तो लंगोटी में क्या बोरा है